और ऐ पैगंबर अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आदो समूद की कौमें भी अपने-अपने पैगंबरों को झुठला चुकी हैं